बहत्तर हम्म, बहत्तर पृष्ठ में तृतिका अयम आशय यही चलेगा पक्ष द्वे अरुचि माह यह सकृतबोध विदित मतम इसमें तो व्याख्यान हो गया कोई कहते हैं सकृतबोध में अलग अलग प्रकार अर्थ करते हैं स्वसंविद्यता प्रतिबोध विदितम ऐसा कोई कहते हैं तो इसमें सोपाधिकत्व तो हो जाएगा और कोई प्रतिबोध शब्द से निर्निमित बोध कहते हैं अथवा सकृत ज्ञान प्रतिबोध कहते हैं इसमें कहा निर्निमित हो और सन्निमित हो सकृत असकृत हो प्रतिबोध वही स इसमें निर्निमित यहाँ जो कहा भाष्य में निर्निमित सन्निमित सकृद वा वा प्रतिबोधे वही स ये कहने का अभिप्राय जो अलग व्याख्यान सकृद बोध कोई प्रतिबोध का अर्थ दूसरे प्रकार अर्थ क्या निर्निमित बोध इसमें अरुचि दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा निर्निमित हो सन्निमित हो सकृत विज्ञान हो बोध हो असकृत हो वो तो प्रतिबोध विदित ही है इसमें अरुचि दिखाने के लिए कहा इसका अभिप्राय क्या है भगवान भाष्यकार का अयम आशय न तावत अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य निम्निमितत्वं संभवति अविद्या निवर्तक जो बोध है आगंतुक महावाक्य से उत्पन्न होता है और निन्निमित नहीं हो सकता है कार्य से सन्निमित्तत्व व्याप्त है यदि कार्य है तो सन्निमित्त होगा उसका कोई निमित्त होना चाहिए निमित्त न स वर्तते सन्निमित्तम कार्यम सौषुप्तस्यापि न निर्निमित्तत्वम अविद्या पूर्व पूर्व निरोधावस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से तत्र सुख साक्षात्कारत्व उपगमात सौसुत बोध सुश्रुत भव सौसुत बोध सुश्रुति में होने वाले जो बोध है वो भी निर्निमित बोध नहीं है सुश्रुति काल में सुख का बोध होता है साकी बोध निर्निमित नहीं है क्योंकि अविद्याः पूर्व पूर्व निरोधावस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य से अविद्या वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से साक्षी बोध है अविद्या वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य को साक्षी कहते हैं साक्षी ज्ञान है अविद्या वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान कहते हैं घट इंद्रिय से चक्षु से सन्निकर्ष होने पर अंतकरण का परिणाम घटाकार वृत्ति तो घटाकार वृत्ति है चैतन्य के अभिव्यंजिका वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान कहते हैं दो प्रकार कहते हैं वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहेंगे तो वृत्ति विशेषण हो गया हो गई और चैतन्य विशेष हुआ चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति विशेष हो गई चिदाभास विशेषण है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को कहीं कहीं कहते वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त करते वृत्ति में आरूढ़ होता है जैसे जल में चंद्र चंद्र तो ऊपर है जल में दिखता है तो जल में चंद्र प्रविष्ट कहीं कह देते स्थित कहते हैं वृत्ति में आरूढ़ वृत्ति का विषय होना ही वृत्ति में आरूढ़ होना वृत्ति में आरूढ़ तो वृत्ति को रहना है वृत्ति विषय होने मात्र से वृत्ति आरूढ़ हुआ वृत्ति अभिव्यक्त भी हुआ वो वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति आरूढ़ ऐसे शब्द से कहते हैं जिस प्रकार अंतकरण वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान पट ज्ञान अंतकरण वृत्ति घटाकार वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान पट ज्ञान कहते हैं इसी प्रकार सुख साक्षात्कार क्या है सुख साक्षात्कार है अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी है सुख दुख अंतकरण वृत्ति का ज्ञान साखी है साखी ज्ञान कैसे साखी है अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य इसको कहा है अविद्याया अविद्याया पूर्व पूर्व निरोधावस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति अभिवत चैतन्य से टीका में टिप्पणी में दिया अविद्या इति अस्य वृत्तावन्वय अविद्याया वृत्ति के साथ अन्वय करना है मन प्रवृत्ति नाम यह पूर्व पूर्व निरोध आगे अविद्या निरोध अवस्था संस्कार पूर्व पूर्व निरोध सुषुप्ति जागृत अवस्था है इसके पहले सुषुप्ति अवस्था थी उसके पहले जागृत अवस्था थी उसके पहले तो सुषुप्ति नहीं थी उसके पहले सुषुप्ति थी जागृत सुषुप्ति जागृत सुषुप्ति बहुत बार तो पूर्व पूर्व निरोध सुषुप्ति अवस्था में सब सूक्ष्म शरीर भी अज्ञान में लीन हो जाता है निरोध हो गया प्रलय जैसे कालीन निरोध का तो सबका लय अविद्या में सुश्रुति काल में अज्ञान में लीन हो जाता है सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है सुश्रुति अवस्था में सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रपंच लीन हो गया मन आदि अविद्या लय हो गया अविद्या में लय होने पर अविद्या में उस लय का संस्कार रहता है जैसे समाधि करते हैं निरोध संस्कार कहते हैं समाधि काल में विक्षेप होता है पहले सबको बंद करके स्थिर रहता है अंतकरण भी तदाकार एक लगातार चलता है वृत्ति तो बाह्य चिंतन नहीं उनसे से सबका निरोध प्रलय जैसे हो गया वो निरोध का संस्कार रहता है वो संस्कार के कारण आगे अभ्यास करने पर फिर ध्यान लगता है पहले पहले बहुत कठिन होता है किंतु अभ्यास करने पर एक निरोध संस्कार बाह्य संस्कार बहुतन से बाह्य चिंतन होता है और जब ध्यान कर बैठे थे सब छोड़ करके समाधि में एक संस्कार होता है वो संस्कार अधिक होने पर आगे जब चाहेंगे स्वल्प समय में ध्यान लग जाएगा तो जैसे बाह्य संस्कार होने से वृत्ति बहुत है बाह्य चिंतन जो बाह्य विषय चिंतन करता है ज्यादा वृत्ति बनेगी तो बाह्य चिंतन होगा जितने जितने बाह्य चिंतन अधिक कर इतने इतने संस्कार बढ़ेगा जितने संस्कार बढ़ेगा इतने उसका स्मरण होगा ध्यान कर बैठेंगे अब वृत्ति बहुत विषय के रोज रोज क्या हुआ कहाँ भूकंप हुआ कहाँ कोई मर गया कहाँ कुछ हुआ ये घटना रोज रोज पढ़ते रहे संवाद पत्र में सुनते रहे ध्यान कर बैठेंगे तो आएगा क्योंकि बड़े चिंता अपने कुछ नहीं करेंगे तो भूकंप हो जाएगा इसे क्या करना पड़ेगा हमको चिंता करना पड़ता है ना अभी वहां भूकंप हो गया क्या करेंगे ऐसा हो जाए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बड़े सब दिमाग लगाते हैं कुछ करना कुछ नहीं कुछ भी कुछ करना पड़े तो कुछ नहीं करेंगे <laughs> बात बैठ कर जो अब मिलकर बात करेंगे वहाँ ऐसे हो गया ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वो राष्ट्रपति बनना नहीं चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके चेयर मोटा हो गया बड़ा हो गया छोटा हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट इतने बड़ा होना चाहिए वहाँ ऐसे छोटा मकान होना चाहिए बड़े-बड़े नियम लगाते हैं कुछ करना नहीं बात करना ऐसे बात करने वाले बहुत होते हैं उनको कहते हैं वाक्य वीर वाक्य मतलब शब्द बोलते समय बड़ा वीर जैसे बोलेंगे और कुछ करने का जो होगा वो कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा देखिए कहाँ जाने के लिए देखा वो देखिए इधर-उधर देखिए कहाँ चला गया और कहाँ कब जाएगा पता नहीं चलेगा अब बात करने का समय हो जाएगा आगे आगे उपस्थित हो जाएगा ऐसे बहुत लोग करते जो ज़्यादा ऐसे चिंतन करेंगे ध्यान में बैठेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा जितने जितने विषय छोड़े तभी तो सन्यास का ही अभिप्राय सब छोड़ करके जंगल में जाने का क्या अभिप्राय जंगल में परमात्मा है और नगर में नहीं है क्या जंगल जाने से परमात्मा सामने आ जाएंगी सर्वत्र परमात्मा है बाह्य चिंतन छोड़ करके चुपचाप रहने से एकाग्रता ध्यान होता है ये सुसुप्ति अवस्था में सब सूक्ष्म सर अभिधा में लीन हो जाने से और उस लय जो हो गया निरोध संस्कार निरोध अवस्था संस्कार निरोध अवस्था में स्थिर वो संस्कार जो उद्भूत होता है प्रकट हो जाता है संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति संस्कार जो उद्भूत होता है प्रकट हो जाता है संस्कार उद्भूत होने से अविद्या की वृत्ति हुई वो अविद्या वृत्ति अविद्या का परिणाम सुषुप्त अवस्था में अविद्या है अविद्या का थोड़ा परिणाम हो वृत्ति होती है सुषुप्त अवस्था में वृत्ति मानते हैं अविद्या वृत्ति से अभिव्यक्त जो चैतन्य अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य अविद्या वृत्ति के द्वारा अभिहित चैतन्य इसको ही साक्षी साक्षात्कार कहते साक्षी ज्ञान कहते वही साक्षी है सुख साक्षात्कार सुख अविद्या वृत्ति बनती है अंतकरण परिणाम सुख है उसको विषय करने वाले ज्ञान जैसे घट मिट्टी पृथ्वी से मिट्टी से घट बना उसका ज्ञान होता है घट आकार अंतकरण परिणाम वृत्ति घट अंतकरण परिणाम है अविद्या परिणाम है ये पृथ्वी का कार्य है उसका ज्ञान हो गया अंतकरण परिणाम इसी प्रकार अंतकरण परिणाम सुख भी है किंतु सुख का ज्ञान अंतकरण परिणाम वृत्ति नहीं है घट का ज्ञान तो अंतकरण परिणाम है सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान मन का बुद्धि का ज्ञान ये साक्षी ज्ञान है साक्षी ज्ञान का तो अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य सुख जैसे घट को विषय करने वाला अंतकरण परिणाम घट ज्ञान हुआ इस अंतकण धर्म सुख दुख ज्ञान इच्छा सब को विषय करने वाले अविद्या वृत्ति है अविद्या वृत्ति में चैतन्य के अभिव्यय होने से उसको भी ज्ञान कहते हैं वह जो ज्ञान है उसको कहते साक्षी ज्ञान सुख का साक्षात्कार होता है जागृत अवस्था में सुख का अनुभव होता है जागृत अवस्था में सुख अनुभव होता है क्या स्वप्न अवस्था में होता है सुश्रुति अवस्था में सुश्रुति अवस्था में होता है सुखम मसासम सुख से हो गया बड़े खुश होकर के वही वृत्ति अभिवत चैतन्य सुख साक्षात्कार तो उपगमात ही माना गया मानने से सुश्रुति काल में जो सौसुत बोध हुआ सुश्रुति काल में बोध हुआ वो बोध सुख साक्षात्कार सुख साक्षात्कार है वृत्ति अभिवत चैतन्य और वृत्ति कैसे निरोध निरोध अवस्था संस्कार से उद्भूत जो वृत्ति उसके लिए पूरा पूरा निरोध अवस्था कारण है या नहीं निर्द अवस्था से तजन संस्कार संस्कार से उद्भूत होती है उद्भूत संस्कार होने से वृत्ति होती है इसलिए निर्निमित नहीं है सुषुप्ति काल में जो बोध है निर्निमित नहीं है इसलिए सौसुप्त सौसुस्त सौसुप्त बोध के दृष्टांत दे करके निर्निमित जो बोध कहा सुषुप्ति काल में बोध भी निर्निमित नहीं है अतएव वृत्ति विशिष्टस्य विनाशे उपपद्यते वृत्ति विशिष्ट से विनाश होने पर नहीं तो स्मरण कैसे होगा स्वजी साक्षी ज्ञान है साक्षी नित्य है फिर स्मरण कैसे होगा अनुभव घट का अनुभव हुआ अनुभव जो होता है उस समय घट का स्मरण होता है घट देखते समय स्मरण होता है अनुभव समाप्त हो गया उसका संस्कार रहा संस्कार से आगे स्मरण होगा साक्षी ज्ञान साक्षी नित्य है नित्य होगा तो उसका नाश नहीं होगा नाश नहीं होगा तो संस्कार नहीं बनेगा संस्कार नहीं बनेगा तो स्मरण नहीं होगा जगने के बाद भी साक्षी है जो साक्षी सुश्रुति में था जागृत अवस्था में आने पर वही साक्षी रहेगा तो साक्षी ज्ञान है तो साक्षी स्वयं है तो स्मरण क्यों होता है साक्षी स्वरूपत होने पर भी जैसे घट ज्ञान घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति अभिवत चैतन्य चैतन्य नित्य होने पर भी उसकी जो अभिव्यंजी का वृत्ति वह नित्य अनित्य है अनित्य होने से वृत्ति अभिव्यत चैतन्य के अनित्य कहा जाएगा वृत्ति घट अनित्य होने से आकाश को नित्य मानने वाले तार्किक लोग घटाकाश को अनित्य कहेंगे घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति घट के नाश से घटाकाश का नाश आकाश स्वरूप तो उत्पत्ति नाश वाला नहीं किंतु उपाधि की उत्पत्ति नाश से आकाश में उत्पत्ति नाश का व्यवहार होता है इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य तो नित्य है उत्पत्ति नाश रहित है किंतु जो वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजिका उसकी उत्पत्ति होने से घट ज्ञान उत्पन्न हो गया और वृत्ति समाप्त होने पर घट ज्ञान नष्ट हो गया उत्पत्ति नाश का व्यवहार ज्ञान में होता है अभिव्यंजक वृत्ति के उत्पत्ति नाश से वृत्ति विशिष्टस्य विनाशे यहाँ भी साखी चैतन्य शुद्ध चैतन्य का विनाश नहीं होगा किंतु अविद्या वृत्ति विशिष्ट का नाश होगा अविद्यावृत्ति का नाश होने से अविद्यावृत्ति विशिष्ट से विनाश है साक्षी ज्ञान का विनाश हुआ साक्षी ज्ञान के अविद्यावृत्ति विशिष्ट का विनाश होने से स्मरणम उपपद्यते स्मरण हो जाता है तब स्मरण बनेगा नहीं स्मरण नहीं होगा स्मृति हेतु संस्कार से अनुभव नाश स्मृति का हेतु संस्कार संस्कार तो अनुभव नाश होने पर तो सुश्रुति काल में जो सुख अनुभव उसका नाश होगा साक्षी सुख साक्षात्कार उसका नाश होगा तो स्मरण बनेगा संस्कार होगा तो उसका वृत्ति के नाश होने से अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य जैसा कि अविद्या वृत्ति उपहित वृत्ति विशिष्ट का भी नाश होने से स्मरण हो जाता है और स्मरण करते समय स्मरण होता अंतकरण में स्मरण होता है अनुभव होते समय सुश्रुति काल में अंतकरण था अविद्या में लीन हो गया था स्मरण होता है सुखम अम अस्वापसम न किंचित अविदितम अनुभव करेगा चैत्र स्मरण होगा मैत्र को होगा सता है तो अब स्मरण काल में को नहीं था अभी कैसे स्मरण करता है देखते समय मैत्र नहीं था स्मरण करता है मैत्र बैठ करके होगा तो वस्तुतः मन का अत्यंत अभाव निरन्वय विनाश नहीं होता है बौद्ध लोग क्या मानते हैं जो विनाश होता है निरन्वय विनाश अन्य कुछ नहीं रहा बिल्कुल समाप्त हो गया तुच्छ हो गया शून्य हो गया फिर द्वितीय क्षण एक घट बन गया वो शून्य से बन गया असत हो गया असत से फिर बन गया ऐसे नहीं वेदांत में सत कार्यवाद होने से कारण का विनाश निरन्वय नहीं कारण का लय कार्य का लय होता है कार्य का जो नाश निरन्वय विनाश नहीं कारण में लय कारण रूपेण अवस्थानम अंतकण सुषुप्ति में कारण रूप से रहता है अज्ञान रूप से रहता है अंतगण रहेगा किंतु संस्कार रूप से रहता है कारण रूप से रहता है कारण रूप से रहने से जितने अनंत जीव है सबका अंतकण अलग-अलग है सबके अंतकण में पुण्य पाप संस्कार है सो करके जब उठेंगे जो जिसके पुण्य पाप था जब आएगा वही पुण्य पाप को लेकर आएगा जैसे यात्रा में जाते अपने अपने पोटली बांध कर जाते हैं चलते समय अपने पोटली को लेकर जाते हैं नहीं हाँ वो तो कभी चोर ले सकता है किंतु ये जो पुण्य पाप संस्कार उसको कोई लेने वाला नहीं नहीं चाहवे आप जब आओ आपके साथ रह जाएगा उसको कोई नहीं लेगा सोते समय हां यहां नहीं सोनेगा सोते समय वो लीन हो जाएगा आते समय वही साथ में आ जाएगा पूरा वही खींच कर लाएगा आपको जब पुण्य पाप संस्कार पुण्य पाप वही आपको उठा कर आया चलो यहाँ नहीं रह सकते समय होने पर सुश्रुति अवस्था नहीं रह सकता जगह आना पड़ेगा वो साथ में आ जाएगा तभी जिसका पुण्य पाप वही पुण्य पाप लेकर आता है नहीं तो सो जाने पर सो ब्रह्म हो गए और जगने के बाद तो वो बस जो रोगी था वो सत्य हो जाए राजा बन जाएगा जब भीख का राजा बन जाए राजा भीख का बन जाएगा ऐसा हुआ तो कोई सोएगा नहीं भीख का तो सो जाएंगे राजा बड़े लोग सोएंगे नहीं कहीं उठने पर कहीं गधा बन जाए तो <laughs> इसे स्वयं नहीं केंद्र ऐसा नहीं होता है जो जैसता जगते समय वही बनेगा मनुष्य सोएगा तो जगते समय मनुष्य होता है पशु हो जाता है जो जैसता वैसे ही बनेगा इसलिए अपने अपने संस्कार सो रहता है अंतकरण रहने पर अंतकण में जितने धर्म संस्कार सब रहता है जगने के बाद स्मरण होता है मैं कौन काल क्या किया था काल क्या खाया था स्मरण होता है कभी हैं होता है कभी कभी स्मरण होता है ना हैं रोज तो नहीं होता है ना उठने के बाद मैं अमुक हूँ ऐसा स्मरण होता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहता है कभी संशय नहीं होता है संस्कार रहता है तो सो जाने पर सुसुप्त अवस्था में अज्ञान में लीन होने पर भी ऐसे रहता है अपने अपने ऐसे रहता है जैसे घड़ा में रखा ऊपर बंद करके यहाँ गंगोत्री से तपोवन से जल लेकर जाते हैं गंगोत्री से और कौन से गोमुख से वहाँ रामेश्वर में चढ़ाने के लिए वहाँ देते हैं लोटे में ऊपर इसे बंद कर देते हैं तो बंद रात यात्रा में जाते समय इधर उधर हो गया गिर गया तो पानी निकल गया नहीं तो कहीं गिर गया तो यात्रा कर पैदल जाते बहुत देर गए कहीं टूट गया तो गया इसलिए इसे बंद कर देते हैं इसी प्रकार सुश्रित अवस्था में जो लीन होते हैं भगवान इसे नियम कर देते हैं अपने अपने अंतकरण पुण्य पाप को ऐसे पैकिंग कर रख देते हैं उसमें से कोई लेगा नहीं न किससे आ सकता है जब आएगा वो आ जाएगा ऐसे डुबा करके रखो पानी में डुबा लेकर आयो तो ऐसे रहेगा इसे सबका अंतकरण रहता है सुश्रुति अवस्था में अज्ञान में और जो अज्ञान में संस्कार हुआ अज्ञान कारण है अंतकरण कार्य है कारणगत संस्कार कार्य में आ जाता है आएगा नहीं आएगा ये बर्फ बनाते आइसक्रीम बनाते पहले पानी पतला करके उसमें जैसे मीठा खट्टा जो मिलाया जो रंग लाया जम जाने पर वही और पिघल जाएगा तो वही आ जाएगा इसी प्रकार सुस्थिति अवस्था में सो घनीभूत है और जब आ जाएगा सो वही आ गया जो जैसे था वैसे आ जाएगा इसलिए कारणगत संस्कार कार्य में अंतकण में आता है अविद्या वृत्ति में जो संस्कार अनुभव हुआ था वो अंतकण में आ जाता है अंतकण उसका कार्य है तो अंतकण जब आएगा अविद्या के कुछ संस्कार को भी लेकर के आएगा अन्ना अपने जो संस्कार अविद्या में छोड़ नहीं सकता है किंतु अविद्या से थोड़ा संस्कार जो अनुभव उसके से लेकर के आता है तो जखने के बाद कहता है सुख से सो गया कुछ पता नहीं चला न किंचित अविदिसम सुखम अहम अस्वापसम ये तो प्रमाता कहता है अंतकण में सा संस्कार आता है इसलिए कोई प्रश्न करते हैं सुषुप्ति अवस्था में अंतकण नहीं रहा अभी स्मरण काल में तो अंतकण में ही प्रमाता स्मरण करता है अंतकण नहीं रहेगा तो अंतकण विशिष्ट चैतन्य रहेगा नहीं रहा परमात्मा नहीं रहा परमात्मा सा लीन हो गया तो वे सुश्रुति का अनुभव जो करता है उस समय अंतकरण नहीं था तो स्मरण कैसे होता है तो अंतकरण स्वरूप तो नष्ट नहीं होता है रहता है और अंतकरण अज्ञान में लीन होने पर भी जब आता है वो संस्कार लेकर आता है स्मरण होता है तो सुश्रुति काल में जो बोध होता है वो बोध का नाश भी हो जाता है बोध साक्षी का तो स्वरूप तो नाश नहीं होता है किंतु अविद्या वृत्ति का नाश होने से वृत्ति विशिष्ट का नाश हुआ तभी संस्कार होता है स्मरण होता है अतएव वृत्ति विशिष्ट से विनाशे स्मरणम उपपद्यते स्मरण होता है न किंचित अविदितम सुखम अस्वापसम इथे असुसुप्त बोध को यदि निमित्त कहेंगे बिना कारण बोध नित्य ऐसा कहेंगे ना उत्पत्ति ना नाश होगा ना स्मरण होगा इसलिए निर्निमित बोध नहीं है अत्रापि तरे आवृत्ति संस्कार प्रचयान निवृत्तेपि चित्ते ब्रह्माभिव्यक्तम स्यादिति चेन्न अत्रापि तरी आवृत्ति संस्कार प्रचयात अत्रापि तरी शंका करते हैं और संप्रज्ञात समाधि संस्कार अतिशयादि त्यावत आवृत्ति संस्कार संप्रज्ञात समाधि का संस्कार बार-बार होने पर अधिक होने से हैं 11 नंबर अत्रा भी हां अत्रा भी हम असंप्रज्ञात समाधोपि असंप्रज्ञात समाधि में आवृत्ति संस्कार प्रत्याद संप्रज्ञात समाधि संस्कार अतिशयाद पहले संप्रज्ञात समाधि का संस्कार होता है वो संस्कार अति होने पर असंप्रज्ञात समाधि होती आवृत्ति संस्कार प्रत्याद निवृत्ते भी चित्ते चित्त की निवृत्ति हो जाने पर भी असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म अभिव्यक्तम स्यादिति चेत निवृत्ते पि चित्ते चित्त नहीं होने पर ब्रह्म अभिव्यक्त हो इति न तथा सति अप्रमात्वेन विनष्ट पुत्रा अपरिचादि एव अविद्या निवृत्ति न स्यात् तथा सति अप्रमात्वेन अप्रमात्वेन संस्कार प्रचय जन्य ब्रह्म अभिव्यक्ति संस्कार से जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी वो प्रमा नहीं है प्रमात है अंतकण वृत्ति से अभिवत चैतन्य प्रमा है अविद्या वृत्ति उपहित अविद्या वृत्ति से अभिवत चैतन्य साक्षी ज्ञान है और संस्कार से जो अभिवत चैतन्य प्रमा नहीं है नहीं होने से विनष्ट पुत्र अपरोक्षादिवत जो मर गया पुत्र उसका कभी सपने में दर्शन हो गया अपरोक्ष हो गया अब सब कभी तो सपने में दिखता है कभी जागृत बैठ के चिंतन करते करते लगता है पुत्र आ गया किसको चिंतन करते करते इसे दिख गया ऐसे वह कुछ कार्य नहीं कर सकता है इसी प्रकार यही से अभिव्यक्ति अविद्या वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी जो प्रमा है अंतकण वृत्ति उपहित चैतन्य ब्रह्माकार वृत्ति उपहित चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से ब्रह्माकार वृत्ति अभिवत चैतन्य से अविद्या की निवृत्ति होगी संस्कार से जो अभिवत संस्कार अभिवत चैतन्य नहीं उसे अविद्या निवृत्ति नहीं होगी वो प्रमा नहीं है प्रमा से यथार्थ अनुभव से अविद्या की निवृत्ति होगी और प्रमा होता है अंतकण उपहित अंतकण अभिवत चैतन्य अंतकण वृत्ति उपहित वृत्ति अभिवत चैतन्य और जो अब समाधि करता पहले संप्रज्ञात समाधि समाधि संस्कार बहुत होते होते आगे असंप्रज्ञात समाधि तो समाधि में संप्रज्ञात समाधि में जो अंतकण की स्थिति उसी से संस्कार होता है ये संस्कार के कारण बार-बार संस्कार करने से आगे असंप्रज्ञात समाधि होता है समाधि में वो वृत्ति संस्कार अंतकरण में जो संस्कार होता है संप्रज्ञात समाधि जन्य संस्कार उस संस्कार से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो करके अज्ञान की निवृत्ति हो जाए चित्त में ब्रह्म के अभिव्यक्त हो जाए निवृत्ते भी चित्त निवृत्त हो जाने पर भी असंप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञात समाधि में चित्त रहेगा असंप्रज्ञात समाधि चित्त निवृत्त हो गया तो भी जैसे सुश्रुति में ब्रह्म अभिव्यक्त हुआ ऐसा भी ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाए उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए कहते इति चेतन तथा सति अप्रमाण से ऐसे विनष्ट पुत्र का अपरोक्ष से कुछ लाभ नहीं होता है इसी प्रकार ये जो संस्कार नष्ट हो गया वृत्ति उसके अभिवत चैतन्य से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी शब्द ज्ञान संवादात प्रमाते परतंत्रत्व प्रसंग शब्द से ज्ञान होता है शब्द ज्ञान जो संस्कार ध्यान करते करते होता है वो शब्द ज्ञान हुई तुम ब्रह्म संस्कार प्रमाव कहेंगे क्योंकि जो ज्ञान हो गया यदि आगे कोई प्रमाण मिल गया कभी-कभी ऐसे ज्ञान हो जाता है प्रमाण के बिना ऐसे संस्कार से कुछ ज्ञान हो गया प्रातिव ज्ञान कहते हैं प्रतिभा से हो गया बच्ची का लड़की कह देते हैं अध्यमे भ्राता आगमिष्यति भाई आएगा ऐसे बोल दिया तो बाद में सचमुच जा गया तो अभी प्रमाण से सिद्ध हो गया आना तो वाक्य जो कहा था वो प्रमाण हो जाएगा वो प्रमा हो जाएगी अनुभव इस शंका करते हैं शब्द ज्ञान संवादात समाधि करते करते इसे रह गया स्थिर हो करके सब का भाव देख लिया और शब्द से नेह नाना तिकिंचन सब मिथ्या है संवाद हो गया जो अनुभव हुआ था तो प्रमा हो जाएगा तो प्रमा में एक प्रमा यथार्थ अनुभव तो प्रमा कहते हैं प्रमा वेदांत मत में यथार्थ अनुभव प्रमाय प्रमा में जो प्रमात्व है प्रमा तो स्वत उत्पन्न होता है स्वत उसका ग्रहण होता है तार्किक लोग कहते जब हम देखते हैं घट को देखते हैं अयम घट शब्द प्रयोग करते घट ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान होने पर ये घट ज्ञान प्रमा है करके नायक लोग नहीं कह सकते हैं सामने दिखता है घट अय ये घट ज्ञान प्रमा है ऐसा नहीं कह सकते हैं आप लोग बताओ जिसको घट ज्ञान हो गया वो प्रमा है या नहीं है जब घट ज्ञान जिसको होता है उसको प्रमा कहेंगे ज्ञान को प्रमा कहें ना सामने घट नहीं है तो घट ज्ञान तो हो गया और देखा सामने घट नहीं ऐसे हो सकता है क्या सामने घट नहीं किंतु घट ज्ञान हो गया तो आंख खोल के दिखा घटा है बाद में जा देखा वो कपड़ा है कोई कपड़ा को इसे रख दिया ये कपड़ा रख देंगे घड़ा जैसे दिखता है गा पानी पीने के देखा वो कपड़ा ऐसे रखा गया हो सकता है ना नहीं हो सकता है पट में घट पट में घट ज्ञान हो सकता है हाँ कई पट को घट को समझ सकता है समझ सकता है अब फैला दिया तो नहीं होगा ऐसे कर रख दिया तो दिखेगा घड़ा है ज्ञान हो सकता ना नहीं आ, हाँ, तो घट ज्ञान हो तो उसको प्रमा कहेंगे प्रमा भी संभव है अप्रमा भी संभव है सर्प ज्ञान प्रमा है या नहीं अयम सर्प से ज्ञान प्रमा है भ्रम है कभी यथार्थ सर्प है सर्प है तो प्रमा है नहीं तो भ्रम हो सकता है दोनों हो सकता है कहीं सर्प कहती सब लोग कहेंगे ब्रह्म ज्ञान रजत ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान सो तो रजत ज्ञान कहते ये ब्रह्म ज्ञान सुक्ति में रजत ज्ञान ब्रह्म और रजत सामने यदि रजत ज्ञान होगा उसको प्रमा कहेंगे हैं <laughs> प्रमा कहेंगे ना ब्रह्म कहेंगे हां तो रजत ज्ञान प्रमा ब्रह्म उभय तो यहाँ प्रमा का प्रमा में जो प्रमात्व स्वतः मानते हैं वेदांती ज्ञान के जो हेतु कारण उससे प्रमा की उत्पत्ति हो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसे प्रमात्व भी इसी से उत्पन्न होता है और ज्ञान को जो ग्रहण करता है जानता है वह तो प्रमात्व के भी ग्रहण करता है नए वेदांती लोग कहते ज्ञान होते हम उसको प्रमा ही मानते हैं और कहीं-कहीं प्रमा नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान हुआ वहां दोष है दोष से अप्रमा की अप्रमात्व अप्रमा होने के लिए दोष कारण प्रमा होने के लिए ज्ञान हेतु मात्र से प्रमा की उत्पत्ति होती सतः प्रामाण्यम प्रमाण है प्रमा तसे भाव प्रमात्व को प्रामाण्य कहा स्वतः प्रमात्वम उत्पद्यते और ज्ञायते और व्यवहार्यते प्रमात्व की उत्पत्ति प्रमात्व का ज्ञान प्रमात्व का व्यवहार सत्य मानते वेदांती तार्किक लोग कहते तो नहीं घाट का घट ज्ञान हो गया कहे घटम हम पश्यामी से कहते हैं वहां मुरारी में से कि मीमांसक हुआ तो अनुव्यवसाय ज्ञान से घट ज्ञान का ग्रहण हुआ घट ज्ञान के प्रमात्व का ग्रहण हो जाएगा अन्य लोग कहते मैं नहीं घट ज्ञान होने का पास में जाकर देखेंगे घट है तब तो निश्चय हुआ ये घट है पानी देखा एकदम जलम देख लिया ज्ञान प्रमाण ही कर सकते पास में जाकर गया पानी पिया तो सानिवृत्ति हुई कहीं जल ज्ञान प्रमा है तो परतः कहते तार्किक लोग अन्य से प्रमात्व उत्पन्न होता है स्वयं ज्ञान हो गया तो प्रमा है अथवा नहीं उसके लिए और एक ज्ञान होने के बाद प्रमात्व का निश्चय होगा ऐसा कहते तो वेदांत मत में प्रमात्व स्वतः है यदि पहले समाधि में ज्ञान हो गया संस्कार से और शब्द ज्ञान होने से उसको प्रमात्व कहेंगे तो सब परतंत्र तो प्रसंग प्रमा स्वतः नहीं होकर परतंत्र हो जाएगा पराधीन हो जाएगा प्रमा स्वतंत्र मानते हैं परतंत्र नहीं होगा इसे तथा प्रमाते परतंत्रत्व प्रसंगात परतंत्र तो प्रसंग प्रमाणोत्थ वृत्ति में ना ब्रह्मा अभिव्यक्ति में प्रमाणजन्य वृत्ति से ज्ञान होता है ब्रह्म की अभिव्यक्ति वो प्रमा है अब प्रमाणजन्य वृत्ति के बिना जो ज्ञान हुआ किसी प्रमाण से किसी वस्तु का ज्ञान हुआ उसको कहेंगे प्रमा और प्रमाण के बिना बच्ची कह दिया भाई आएगा वो प्रमा है आगे संवाद हो जाने पर भी उसको प्रमाण नहीं कर सकते प्रमा है तो किस प्रमाण से उत्पन्न हुआ कभी पर्वत में वाष्प निकल रहा है उसको धुआं समझ करके कोई कह दिया पर्वत बनीमान और जाकर के देखा सचमुच पर्वत बनी है तो उसका जो ज्ञान हुआ था पर्वत मान वो प्रमा है या नहीं जो ज्ञान हुआ था वो यदि प्रमा है किस प्रमाण से उत्पन्न हुआ कहना पड़ेगा प्रमाण है वाष्प को धूम समझा वाष्प को धूम समझ कर अनुमान किया जब वो ज्ञान को प्रमा कहेंगे कभी हृदय में भी बनी ज्ञान हो जाएगा हृदय में वाष्प निकलता है हृदय बनीमान धूमवत्वात वो भी प्रमा हो जाए इसे प्रमा नहीं कह सकते प्रमाण संवाद होने पर भी प्रमाण से उत्पन्न हो तो प्रमा कहेंगे यहाँ प्रमाण से उत्पन्न हो करके खाली संस्कार से से ब्रह्म अभिव्यक्ति कहेंगे प्रमाण से उत्पन्न हो जो वृत्ति उसके द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य प्रमा इसलिए कहा तो प्रमा प्रमाण जन्य वृत्ति के बिना ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानेंगे तो वो परमा में प्रमा नहीं है और यदि उसमें शाब्द ज्ञान संवाद होने से कहेंगे तो परतंत्र तो प्रसंग क्योंकि शब्द मूलत्वात् प्रमात्वे यदि प्रमात्व शब्द मूलक हुआ श्रुति प्रमाणजन्य हुआ तो न निर्निमितता सौश्रुत बोध निर्निमित नहीं होगा समाधि काल में बोध निर्निमित नहीं होगा समाधि से क्या क्या ज्ञान हो जाएगा शब्द प्रमाण के बिना ऐसा नहीं इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी वेदांत प्रमाण से होगा अरे वेदांत प्रमाण के बिना खाली ध्यान समाधि करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ये नहीं समाधि करने से एकाग्र चित्त एकाग्र हो जाए निर्विकल समाधि कर ले किंतु ब्रह्म ज्ञान तो होगा वेदांत प्रमाण से हां समाधि होने पर अंतकण शुद्ध हो जाता है तो वेदांत महावाक्य श्रवण से ज्ञान हो जाएगा किंतु ज्ञान होगा प्रमाण से यदि प्रमाण मूलक शब्द मूलक ज्ञान हुआ शब्द मूलक जो ज्ञान उसको निर्निमित कहेंगे जैसे प्रतिबोध भी मत चल रहा है सो सब श्रुत बुद्ध भी निमित्त निर्निमित नहीं है ये बता दिया और प्रतिबोध को कहते हैं बोध के सम्मान निर्निमित बोध प्रतिबोध विदत्त मतम प्रतिबोध बोध को निर्निमित बोध कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञा ज्ञान और निर्निमित बोध नहीं हो सकता है शुद्ध ब्रह्म तो निर्निमित है कोई बात नहीं क्योंकि नित्य है जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान और निर्निमित नहीं हो सकता है क्योंकि प्रमाण जन्य पूर्व पिछे ने कहा ब्रह्म का चिंतन ध्यान करते करते समाधि करता था पहले पहले संप्रज्ञात समाधि संस्कार भूत हुआ वो संस्कार से आगे अब संप्रज्ञात समाधि हो गई उसमें जो बोध हो गया वो निर्निमित बोध है तो ये कहते हैं निर्निमित बोध हो तो उस प्रमाण ही है निर्निमित बोध नहीं संस्कार से हुआ और दूसरा है वो प्रमाण ही है यदि शब्द से संवाद हुआ जो समाधि में ज्ञान हुआ था वही श्रुति कहती है तत्वमसि तो ज्ञान में प्रमात्व जो उत्पन्न होता है वो तो परतत्व हो जाएगा परतत्व शब्द प्रमाण से प्रमात्व नहीं आया ऐसा अर्थ करेंगे तो ठीक नहीं तो जो पहले ज्ञान था उसको प्रमाण नहीं कर सकते प्रमात प्रमाण से जन्य जो वृत्ति वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य का नाम प्रमा ज्ञान ऐसे घट ज्ञान होता है चक्षु आदि प्रमाण से घटाकार वृत्ति हुई वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान घट प्रमा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी इस प्रकार वेदांत प्रमाण से तत्वमसी महावाक्य श्रवण करके ये ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति अभिवत चैतन्य का नाम है ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान का निवर्तक जब प्रमाण से वृत्ति की उत्पत्ति होगी तद अभिवत चैतन्य को प्रमा कहेंगे वो निर्निमित हो गया प्रमाण से वृत्ति की उत्पत्ति होने से निर्निमित नहीं होगा शब्द मूलत्वाद प्रमात्वे न नहीं शब्द मूलत्वाद प्रमात्वे न अन्य निमित्तते न अलग है न शब्द मूलतात परमात्वे न निर्निमित्तता इति प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधाद वर्तमान प्रमात्रित आभास निवृत्तेर असगत बोधोपि संभवति इति पक्षदेप अनादर प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधाद प्रवृत्त फल प्रवृतम फलम यस्य जो फल आरंभ हो गया ऐसा जो कर्म प्रवृत्त फल कर्म कौन है प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म है प्रतिबंध है जब तक प्रारब्ध है तब तक साक्षात्कार शुद्ध ज्ञान नहीं होता है तो प्रारब्ध है तो ज्ञान तो हो गया ज्ञान होने पर ही प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर रहता है वर्तमान प्रमातृत्व आभासा निवृत्ते वर्तमान प्रमातृत्व का आभास होता है जब तक प्रारब्ध है प्रारब्ध जब तक है तब तक प्रमात्रत्व का आभास होता है व्यवहार करता है भोजन करता है उपदेश करता है चल पाता है यदि ये सब भान नहीं होगा तो ज्ञान होते ही आगे ना बोल सकता ना देख सकता ना खा सकता है मर जाएगा कोई कहे के मर भी नहीं सकता है <laughs> प्राण हो तो प्राण त्याग होगा प्रमात्रत्व आभास अनिवृत्ति प्रमात्रत्व आभास निवृत्त नहीं होने से बार-बार बोध होने पर कोई आपत्ति नहीं असकृत बोध भी संभवती ये ज्ञान होने के बाद जब तक सर रहेगा फिर ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती दोबारा एक बार ब्रह्माकार वृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान और सर रहे क्या और ब्रह्माकार वृत्ति कभी जीवन में होगा या नहीं होगी हाँ बार-बार हो सकता है परमात्रित्व तो भास अनिवृतेर असकृत बोध भी संभवती सकृत बोध क्या एक बार ज्ञान हो गया नहीं होगा ऐसा नहीं जब तक प्रारब्ध कर्म है प्रतिबंध है प्रमातृत्व का आभास होता है जिस प्रकार भोजन देखता है खाता है सुख दुख होता है पानी पीता है शिष्य को उपदेश करता है इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा वृत्ति हो सकती है नहीं हो सकती जब सामने घटपटा जी दिखता है हम ब्रह्मास्मि ऐसा वृत्ति नहीं हो सकती वृत्ति हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा क्या कोई कहते ब्रह्म ज्ञान हो गया आगे कुछ वृत्ति नहीं कुछ नहीं पारमार्थिक आत्मा में तो कुछ है ही नहीं उसको नहीं लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ किंतु अंतकर्ण है जो तो प्रारब्ध है शरीर है खाता पीता व्यवहार करता है जिस प्रकार व्यवहार करता है इस प्रकार समाधि में रह सकता है कभी ध्यान कर सकता है गंगा स्नान करता है जप कर सकता है ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तिलक दान कर सकता है तिलक लगाए तो कहेंगे ज्ञान अभी नहीं हुआ ऐसे कुछ लोग तिलक नहीं लगाते हैं तो तिलक लगाए तो क्या सोचे लोग कहेगा अभी तो ज्ञान नहीं हुआ अब माला लगाए तो कहेंगे नहीं नहीं अभी माला जप रहा है तो ज्ञान हुआ नहीं कोई हमको पूछा था अभी माला अपने माला छूट गई या जपते हैं तो माला तो है ही गला में दिखता है देखो माला तो है माला अब तक छूटी नहीं वो कुछ लोग साधु लोग क्या कहते हैं ना अरे हम तो ऐसा है हमारा अपने आप जप चलता है अजपा जप चल रहा है हमको कुछ नहीं करना पड़ता अपने आप चलता है माला है रे माला तो कब से हमने छोड़ दी माला लेकर जपते हैं मतलब अज्ञान है माला छोड़ दिया तिलक भी नहीं करे तब ज्ञानी सिद्ध ज्ञानी हुआ और तिलक लगा दिया तो क्या है अभी तो ज्ञान नहीं हुआ अब मंदिर में जाता है अब मंदिर में जाता है सुबह उठना पड़ता है सुबह उठते मतलब ज्ञान नहीं हुआ परमहंस मतलब सुबह नहीं उठना बस दस ग्यारह बार भोजन जो मिल गया तो स्नान करने की इच्छा तो कर लो नहीं तो भोजन करने के बाद तो करो क्या पति है स्नान करने की इच्छा तो करो नहीं तो नहीं करो परमहंस है ना ये परमहंस स्थिति ऐसा नहीं है या ऐसे ही कर देने से ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है सब कर सकता है व्यवहार जैसे भोजन करता है भोजन में अच्छा बताओ ज्ञान हो जाने का भोजन कर बैठा उसको इतने गोबर लाकर दे दिया खा लेगा ना क्यों तो में वेद वेद बुद्धि है इसका मतलब <laughs> भोजन रोटी भोजन दिया चावल दिया खा लिया और गोबर दिया तो नहीं खाता है इसका मतलब क्या है वेद बुद्धि है तो अवेद ज्ञान हुआ नहीं <laughs> ऐसे कुछ लोग कहते हैं कहीं थोड़ा कुछ कोई कह देंगे तो इसका मतलब जो कहीं विचार करते हैं स्त्रियों का सन्यास नहीं तो जो स्त्री सन्यास में महाराज जी अभी तक भेद बुद्धि आप में फिर बोलते नहीं नहीं हाँ अधिकार है क्योंकि भेद बुद्धि कह देंगे तो डर जाते हैं <laughs> स्त्रियों का अधिकार है मतलब स्त्री पुरुष में अभी भेद बुद्धि आप का है तभी कहते स्त्रियों का सन्यास में अधिकार नहीं तो स्त्री पुरुष में भेद बुद्धि है तो ब्रह्म ज्ञान कहा हुआ फिर ब्रह्म ज्ञान हो तो क्या करना पड़ेगा बिल्कुल भेद बुद्धि नहीं है फिर क्या कहें हाँ सबका अधिकार है कुछ महात्मा फिर राजी हो जाते हैं मान लेते हैं चलो मान लो अधिकार नहीं तो स्त्री लोग क्या कहेंगे कहेंगे इनकी अभी भेद बुद्धि नहीं गई तो उनके सामने अज्ञानी हो जाएंगे ना यदि कहे सबका अधिकार है बस अभी अद्वैत ज्ञान हो गया सब सबका अधिकार तो भेड़ बकरी को भी सन्यास दे दो कुत्ते को भी दे दो भेद बुद्धि नहीं ना भेद <laughs> बुद्धि नहीं तो गोबर खा लो भोजन के समय नहीं गोबर इतने लाकर रख दो खा लो खा लिए ना पत्थर टुकड़ा लेके दे दो श्वास वगैरह खा लो भेद बुद्धि व्यवहार में रहती है जैसे भेद बुद्धि रहती है ऐसे ब्रह्माकार बुद्धि हो सकती बोध सकृत बोध होगा कोई जरूर नहीं जब तक प्रारब्धे प्रमातृत्व तो आभास रहता है इसलिए असकृत बोध भी संभवती असकृत सकृत ज्ञान ये भी ठीक नहीं है इति पक्षद्वय पे आदर एक निर्निमित बोध कहा वो ठीक नहीं जो ज्ञान होगा सन्निमित होगा प्रमाण से उत्पन्न होगा निर्निमित नहीं ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तकम और जो सकृत बोध कहते वो भी ठीक नहीं जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रमातित्व का आभास रहता है जिस प्रकार भोजन आदि व्यवहार करता है इसे ब्रह्माकार वृत्ति जप ध्यान आदि कर सकता है असत्य के दो दो भी संभव है दोनों पक्ष में आधार नहीं है इसे निर्निमित हो सन्निमित हो वो सकृत हो असकृत हो प्रतिबोध विदितम सर्वथापि परमात्मा प्रतिबोध एव परमात्मा प्रतिबोध है उसका अर्थ बोधम प्रति बोधम प्रति साक्ष्यतया भाति थी बोधम प्रति बोधम प्रति भाति परमात्मा साक्ष्य रूप से प्रत्येक वृत्ति ज्ञान में घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान जितने सारे बोध में वृत्ति में साक्षी रूप से भान होता है वृत्तियों का साक्षी वृत्तियों का प्रकाशक जो बुद्धि का प्रकाशक सुख दुख का प्रकाशक जो ज्ञान वृत्ति का भी हुई प्रकाशक घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है प्रत्येक बोध में साक्षी भान होता है साक्षित्वेन परमात्मा भान होता है लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वकम महावाक्योत्थम परमात्मास्मिति ज्ञानमेव सम्य ज्ञानम यस्मात तथे अमृतत्व लभते त्याह ये सम्य ज्ञान है परमात्मास्मिति वाक्योत्थ ज्ञानम वाक्य के बिना प्रमाण के बिना करने के बिना सीधा ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान को नष्ट करेगा वह नहीं वाक्यार्थ बोध महावाक्य जन्य ज्ञान कैसे ज्ञान है अहम अस्मि ब्रह्म ये ज्ञान ही सम्य ज्ञान है और वाक्योत्थ ज्ञान कैसे होगा महावाक्योत्थ महावाक्य जन्य ज्ञान कैसे होगा वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए तत्पदार्थ त्वम पदार्थ तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का अर्थ वाच्यार्थ लेंगे तो अभेद नहीं हो सकता है तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ तो पद का वाच्यार्थ जीव अल्पज्ञ दोनों की एकता नहीं हो सकती है साधना करेंगे ध्यान करेंगे तो एकत्व हो जाएगा ना जितने ध्यान करे शीर्षासन करे लोहा सोना हो जाएगा कितने देर शीर्षासन करेंगे तो मिट्टी का घड़ा सोना बन जाएगा तो पदार्थ का तत्पदार्थ के साथ एकत्व ये जितने योगाभ्यास करने से कैसे हो जाएगा वाच्यार्थ में को तो नहीं हो सकता है कुछ भी करो ढोल बजाओ मृदंग बजाओ नाच करो कीर्तन करो कुछ करो वाच्यार्थ में एकत्व तो नहीं होगा एकत्व तो लक्ष्यार्थ में लक्ष्यार्थ एकत्व तो करने के लिए लक्ष्य पदार्थ विवेचन करना पड़ेगा जो पद का अर्थ तत्पद का अर्थ तम पद का अर्थ एक वाच्यार्थ होता है कि लक्ष्यार्थ होता है लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य तम पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य उसका विवेचन करना ये देहादि देह इंद्रिय सूक्ष्म कारण तीनों शरीर तीनों शरीर से विलक्षण शुद्ध चैतन्य है जो जागृत सपन सुषुप्ति तीनों अवस्था में रहता है वो शुद्ध चैतन्य को देहादि से विवेचन पृथक समझना अहम त्वम पद का जो अर्थ मैं क्या हूं कौन हूं ये बुद्धि की साक्षी मैं हूं बुद्धि का साक्षी देहादि में नहीं हूं ऐसा निश्चय होने पर त्वम पद का लक्ष्यार्थ ज्ञान हो जाए पहले वो भी कैसे ज्ञान संशय विपर रहित सामान्य तो तम प्रति का लक्ष्य है शुद्ध चैतन्य एक मिनट भाई एक वाक्य सुना तुरंत कह देगा तुम तुम कौन हो मैं देहादि से विलक्षण पंचकोश तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का साक्षी शुद्ध चैतन्य चिन्ह मात्र रटकर बोल दिया ना नहीं बोल दिया इतने मात्र से नहीं संशय विपर रहित ज्ञान ऐसा चिन्ह मात्र कहते समय देह में हम बुद्धि नहीं देह के साथ तो जकड़ कर पकार के देह को और शब्द से बोलता मैं चिन्ह मात्र हूं देह से विलक्षण देह से विलक्षण तो कहते समय बोलो मैं स्थूल शरीर से अतिरिक्त हूं कहते समय मैं कहते समय स्थूल शरीर आता है नहीं आता है स्थूल शरीर से बिना सूक्ष्म शरीर से बिना कारण शरीर से बिना कहते समय तीनों शरीर को मिलाकर मैं बैठा हूं मैं तीनों शरीर से विलक्षण कहते इधर मैं मैं तीनों शरीर से विलक्षण हूं विलक्षण उधर बैठा है मैं इधर बैठा हूं तीनों शरीर से विलक्षण संशय विपर रहित ज्ञान चाहिए तो हम पदार्थ में संशय विपर रहित ज्ञान हो इसी प्रकार तत्पदार्थ में तत्पद का अर्थ ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसके साथ जीव की एकता नहीं होती है तत्पद का लक्ष्यार्थ लेना माया से ही ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है माया अतीत शुद्ध स्वरूप जो तत्पद का लक्ष्यार्थ उसका निश्चय हो तम तो पदार्थ तत्पदार्थ का विवेचन हो तो लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वकम विवेचनम पूर्वम यस्मात् यस्य विवेचन पूर्वक महावाक्य जन्य बोध होता है परमात्मा स्मृति ज्ञानम यही ज्ञान सम्य ज्ञान है जो ज्ञान का निवर्तक यस्मात् ततैव अमृतत्वम लभते अमृतत्व ही विंदते प्रतिबोधित विदित मतम अमृतत्वम ही विंदते यही बोध सम्य ज्ञान क्योंकि उससे अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है अमृतत्व ही विंदते यही ज्ञान सम्य ज्ञान होने से उसे अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती अमृतत्व अमृतत्व का अर्थ अमरण भाव अमर स्वात्मनि अवस्थान मोक्षम हे कहते यस्माद् विन्दते लभते हि मोक्ष है अमरण भाव सात्मनि अवस्थान आत्मा में अवस्थान का अर्थ आत्म रूप से रहना आत्मा से अनात्म को छोड़ करके अभी घट ज्ञान पट ज्ञान अहम ज्ञान होते समय आत्मा तो है आत्मा अनात्म को मिला करके आत्मनि एव अवस्थानम अनात्म को छोड़ करके आत्मा में रहना यही मुख्य है इसको प्राप्त करता है ज्ञान से यथोक्तात् प्रतिबोधात् यही प्रतिबोध से प्राप्त करता है प्रतिबोध विदित आत्मकात् प्रतिबोध विदित आत्म का जो ज्ञान प्रतिबोध विदितमतम तस्मात् प्रतिबोध विदितमेव मतमिति अभिप्राय बोधम बोधम प्रति सब बोध ज्ञान में साक्षी रूप से जो रहता है चिद रूप वही ब्रह्म ऐसा ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है प्रतिबोध विदितम मतम सम्य ज्ञान हाँ, ये अभी जो कहा उसका भी अर्थ का संक्षेप से आगे कहेंगे बोध से ही प्रत्येक आत्मा आत्म विषय से मतम अवतत्व हेतु बोध से ही प्रत्येक आत्मा बोध का भी प्रत्येक आत्मा है आत्मा बोध का प्रत्येक स्वरूप है बोध का वास्तव स्वरूप आत्मा जो बोध वृत्ति ज्ञान उसका वास्तव स्वरूप प्रत्येक है बोध से आत्मा प्रत्येक बोध क्या आत्मा ही प्रत्येक स्वरूप है अपना स्वरूप है वास्तव स्वरूप आत्मा बोध का ही स्वरूप है अधिष्ठान ही वास्तव स्वरूप अध्यस्त का राज्य में जो सर्प दिखता उसका वास्तव स्वरूप रज्जु है इसी प्रकार जो वृत्ति ज्ञान उसका वास्तव स्वरूप आत्मा प्रत्येक है बोध से बोध से प्रत्यय आत्मा बोध का वास्तव स्वरूप आत्मा है आत्म विषय च मतम अमृतत्व हेतु और आत्म विषय जो ज्ञान वो अमृतत्व का हेतु है यही कहा बोध संक्षेपित का बोध का ही स्वरूप है आत्मा ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि